तैतरी मंत्र का पाठ करेंगे ओ भूर सु तत्सवितु प्रचोदया समादरणीय स्वामी जी आचार्य जी और ब्रह्मचारी गण माताओं आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि व्यवहार काल में योगाभ्यासी को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ये व्यवहार काल में भी हम ईश्वर उपासना में रह सकें और अपने कार्यों को करते रहें जितना व्यक्ति में शक्ति सामर्थ्य है उतना ही कार्य करे पृष्ठ संख्या फिर भी यदि कोई कमी रहे कार्य बिगड़े तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह हमारे हाथ में नहीं है भूल भूमूल में तो हमारे शक्ति ज्ञान बल कुछ भी नहीं है न प्रकृति का है हमारा मूल में प्रकृति में जड़ पदार्थ है उसमें अपना कोई नहीं और हम जीवों में जो सामर्थ्य है वह बहुत कम है अकेले जीवात्मा में केवल देखें तो जीवात्मा का स्वाभाविक जो ज्ञान है वह इतना है कि अकेले स्वाभाविक ज्ञान से कुछ भी नहीं जाना जा सकता आप प्रकृति को हटाइए शरीर को दूर करके ईश्वर को अलग रखिए अकेले जीव आत्माओं को छोड़ दीजिए मूर्छित अवस्था में रहेंगे बस इतना ही है नहीं है न प्रकृति का है सभी कुछ ईश्वर का ही है ये याद रखा जाएगा तीनों कालों में सब कुछ ईश्वर का है हमारे प्रयोग के लिए ये सृष्टि बनाई गई है और ऐसा जान करके व्यवहार करें तो व्यक्ति के बहुत से दोष दूर हो जाते हैं सब कुछ ईश्वर का ही है एक एक प्रकृति का परमाणु जीवात्मा ईश्वर का है हाँ, ईश्वर का है तो चिंता किस बात की है अपना तो कुछ बिगड़ेगा नहीं इस प्रकार सभी समस्याओं का समाधान करते रहना चाहिए कि संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा विरोध विरोध होगा अन्याय होगा अतः चिंता नहीं करनी सामने वाला व्यक्ति मेरे सात बुरे तरह उचित व्यवहार के ही सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ पूरे तरह उचित व्यवहार करे ही व्यवहार करे ही मेरे मन में क्या है ये ज्ञान जान ले हमको पूरी तरह समझ आए ऐसा असंभव है क्योंकि वह सर्वज्ञ नहीं है व्यक्ति से भूल हो जाती है जब भूल हो जाती है तो सहन शक्ति उसमें रहनी चाहिए ऐसा असंभव है क्योंकि वह सर्वज्ञ नहीं है किसी को पूरी तरह जानना असंभव है अतः उसकी वाणी और शरीर के व्यवहार तथा उन पर आधारित मानसिकता को कुछ सीमा तक जान सकता है इसलिए जब वह पूरी तरह जान ही नहीं सकता तो विपरीत व्यवहार तो करेगा ही फिर क्यों ऐसा ऐसी आशा रखें कि सामने वाला मेरे साथ केवल उचित व्यवहार ही करे जी के सामने वाले से कभी भूल से कोई बात हो जाए तो उसका सहन करना पड़ता है सभी सभी झगड़े तनाव का मूल कारण है, है कि व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा मानता है और अन्यों को छोटा मानता है ये सामान्य रूप से देख सकते हैं आप व्यक्ति स्वयं को तो बहुत बड़ा मान लेता है और दूसरे को कुछ नहीं मानता ये ऐसे ऐसे दोष जो व्यक्ति में आते हैं वह इन तीनों को ईश्वर जी प्रकृति को ठीक न समझने से आते हैं इन दोषों के मूल में मिथ्या अभिमान रहता है यदि ईश्वर का मान के चले तो ये मिथ्याभिमान नहीं उभरेगा रखे कि सामने वाले मेरे साथ ऐसा ही उचित व्यवहार है ये कह रहे सभी झगड़े तनाव का मूल कारण की व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा मानता है और अन्यों को छोटा मानता है इसके रहते संगठन प्रेम मित्रता नहीं हो नहीं हो सकती इसके रहते हुए संगठन और प्रेम मित्रता नहीं हो सकती जो भी कार्य करो वह मन मस्तिष्क में ईश्वर को उपस्थित रखते हुए करो सदा कार्य करते समय अपने दिमाग में बुद्धि में ईश्वर को रखना चाहिए जो कुछ शक्ति सामर्थ्य है वह ईश्वर का ही है हमारे पास में जो शक्ति सामर्थ्य है वह ईश्वर का ही है उपस्थित रखो जो कुछ शक्ति सामर्थ्य है वह ईश्वर का ही है सभी कार्य ईश्वर के मान कर चलो इससे अभिमान नहीं होगा व्यक्ति स्वयं को बड़ा मानता है जबकि सभी जीवात्मा और प्रकृति अपने सामर्थ्य ज्ञान बल की दृष्टि से कुछ भी तो नहीं कर सकते अपने केवल सामर्थ्य से न प्रकृति कुछ सकती और न जीवात्मा कुछ सकता प्रकृति क्षण कुछ भी तो नहीं कर सकते जो इस सिद्धांत को नहीं जानता वह समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता जो व्यक्ति इस सिद्धांत को नहीं जानता वह समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता आप व्यवहार में देखेंगे तो ये समाधि लगाने में ये दोष रहते हैं इसलिए किंतु ईश्वर हमारे लिए समाधि लगवाने के लिए उद्यत है सदा आप ईश्वर के अनुकूल व्यवहार करिए और यमने मष्टांग योग का पालन करिए तो आपके समाधि ईश्वर परिणिधानात हुआ समाधि शीघ्र ही ईश्वर लगाएगा नहीं हो सकता क्योंकि वह झूठा व्यवहार है कि ईश्वर की वस्तु को अपनी कहना ईश्वर की वस्तुओं को अपनी कहना और ईश्वर के न मानना यह झूठा व्यवहार है अपने दोषों से प्यार मत करो अपनी जो त्रुटियां हैं उनसे प्रेम नहीं रखना चाहिए घृणा के दृष्टि से अपनी त्रुटियों को देख अपने दोषों से प्यार मत करो अपने दोषों से प्रेम नहीं करो जब पता चले कि यह दोष है चाहे असावधानी से हो या अज्ञान से हो उसे झट स्वीकार करो जो दोष पता चले तो उसको स्वीकार करो सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में उद्दत रहो और आगे और आगे के लिए सावधान हो जाओ दोष सिद्ध होने पर उसके अत्यंत शत्रु बन जाओ उसे विरोध करो घृणा करो जाओ कि इसे हटाना ही है अपने दोष को जान करके सदा ये सोचो इस दोष को हटाना ही है तब दोष दूर होंगे यह सुधरने की शैली है उपासना काल में शरीर से संबंध तोड़ करके सीधा ईश्वर से संपर्क जोड़ना चाहिए जब उपासना आप करें तो शरीर से संबंध हटा दीजिए हटा दिए और सीधा ईश्वर से संबंध जोड़ना चाहिए इससे प्राकृतिक सत्व गुण का सुख मिलने पर भी उसकी ओर से ध्यान अटकर ईश्वर से मिलने वाले नितांत दुख रहित सुख में लगेगा ईश्वर जो है उसमें दुख रहित सुख से मिलेगा उपासना में क्योंकि वही एक ऐसा आलम्बन है कि जिसके आश्रय से व्यक्ति दुखों से छूट सकता है ऐसा ही आलम्बन एक ईश्वर है जिसे व्यक्ति दुखों से छूट सकता है सांसारिक क्षेत्र में दुखों से नितांत नहीं छूट सकता जैसे कोई दो व्यक्ति जो कार चला चलाने में अनभिज्ञ हैं वे एक दूसरे को कार चलाने का प्रशिक्षण नहीं दे, देते हैं यदि देते हैं तो यह व्यवहार ठीक नहीं क्योंकि क्यों दे नहीं क्यों दे नहीं सकते अतः जब उनमें से एक कार चलाने में परिपक्व हो जाता है तब वह दूसरे को प्रशिक्षण दे सकता है यही ठीक व्यवहार होता है ऐसे ही प्रत्येक कार्य में पहले अपनी स्थिति परिपक्व हो जाए तब अन्यों को प्रशिक्षण देने का प्रयास करना चाहिए अपनी न्यूनता या हानि करके नहीं जैसे जैसे जितनी जितनी योग्यता बनती जाए उतनी उतनी अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए प्रशिक्षण देने चाहिए अपनी स्थिति जैसी बनती जाए वैसे वैसे उस विषय में प्रशिक्षण देने चाहिए मन वाणी शरीर पर संयम रखने वाला लाखों में करोड़ों में कोई एक मिलना भी कठिन है मन पर और वाणी पर और शरीर तीनों पर संयम रखने वाला व्यक्ति लाखों करोड़ों में मिलना भी कठिन है प्राय व्यक्ति संयम का उल्लंघन कर देता है यदि व्यक्ति अपने जीवन पर आत्मनिरीक्षण का अंकुश लगाए तो बुराइयों से बचकर गुणों को ग्रहण कर सकता है यदि व्यक्ति अपने जीवन पर यदि आत्मनिरीक्षण करे तो अंकुश लगाए तो बुराइयों से बच सकता गुणों को ग्रहण कर सकता है यदि व्यक्ति वास्तव वास्तविक रूप में आत्मनिरीक्षण करे तो इसे प्रकार से अपने जीवन पर अंकुश लगा देता है कि जो बुरा कार्य आज तक किया उसे आगे किसी भी स्थिति में भी नहीं करेगा यदि व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करे अपना निरीक्षण करना चाहिए करे यदि वो निरीक्षण करता है तो उस प्रकार से अपने जीवन पर अंकुश लगा देना देता है कि जो बुरा कार्य आज तक किया उसे आगे किसी भी स्थिति में नहीं करेगा आगे नहीं करेगा अब जो बुरा कार्य हो गया किसी कारण से तो आगे उसको किसी प्रकार न करेंगे और जो अच्छा कार्य छूट गया है उसे आगे नहीं छोड़ेगा अच्छे कार्य को यदि छूट छूट गया तो आगे नहीं छोड़ेगा वह चाहे निष्काम कर्म हो ज्ञान प्राप्ति हो या उपासना हो प्रत्येक वस्तु की को उसके कारण रूप देखने के लिए नाम और रूप को मिटाना पड़ता है प्रत्येक वस्तु को उसके कारण रूप में देखने के लिए नाम और रूप हटाना पड़ता है जैसे नाम देवदत्त है और रूप देवदत्त अब वे राम 有山一样的脸上。